प्रेम असफल होता है क्योंकि हम शरीर के तल पर खोजते हैं मैं असफल होता है क्योंकि असत्य है तीसरा क्या हो सकता है तीसरा यह हो सकता है प्रेम की सम्यक दिशा खोजें और मैं की असम्यक दिशा से बचें प्रेम शरीर के तल पर नहीं चेतना के तल पर घटने वाली घटना है शरीर के तल पर जब प्रेम को हम घटाने की कोशिश करते हैं तो प्रेम ऑब्जेक्टिव हो जाता है कोई पात्र होता है प्रेम का उसके तरफ हम प्रेम को बहाने की कोशिश करते हैं वहां से प्रेम वापस लौट आता है क्योंकि पात्र शरीर होता है जो दिखाई पड़ता है जो स्पर्श में आता है लेकिन प्रेम को अगर आत्मिक घटना बनानी है अगर प्रेम को कॉन्सियसनेस बनाना है चेतना बनाना है तो प्रेम ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता सब्जेक्टिव हो जाता है तब प्रेम एक संबंध नहीं चित्त की एक दशा है स्टेट ऑफ माइंड है बुद्ध एक सुबह बैठे हैं और एक आदमी आ गया है वो बहुत क्रोध में है उसने बुद्ध को बहुत गालियां दी हैं और फिर इतने क्रोध से भर गया है कि उसने बुद्ध के मुंह के ऊपर थूक दिया है बुद्ध ने अपने चादर से वो थूक पहुंच लिया और उससे कहा मित्र कुछ और कहना है बुद्ध का भिक्षु आनंद पास बैठा है वो क्रोध से भर गया है और बुद्ध की ये बात सुन के कि वो कहते हैं कुछ और कहना है वो और हैरान हो गया और उसने कहा आप क्या कहते हैं ये आदमी थूक रहा है और आप पूछते हैं कुछ और कहना है बुद्ध ने कहा मैं समझ रहा हूं शायद क्रोध इतना भारी हो गया है कि शब्द कहने में असमर्थ मालूम होते होंगे इसलिए उसने थूक के कोई बात कही है मैं समझ गया उसने कुछ कहा है अब मैं पूछता हूं और कुछ कहना है वो आदमी उठ गया है लौट गया है पछताया है रात भर सो नहीं सका है दूसरे दिन सुबह क्षमा मांगने आया है बुद्ध के चरणों में उसने सिर रख दिया सिर उठाया बुद्ध ने कहा और कुछ कहना है वो आदमी कहने लगा कल भी आप यही कहते थे बुद्ध ने कहा आज भी वही कहता हूं शायद कुछ कहना चाहते हो शब्द कहने में असमर्थ है इसलिए सिर पैरों पर रख कर कह दिया है कल थूक कर कहा था पूछता हूं कुछ और कहना है वो आदमी बोला कुछ और नहीं क्षमा मांगने आया हूं रात भर सो नहीं सका मन में ये ख्याल हुआ आज तक आपका प्रेम मिला मुझे आज थूक आया हूं आपके ऊपर अब शायद वो प्रेम मुझे नहीं मिल सकेगा बुद्ध खूब हंसने लगे और उन्होंने कहा सुनते हो आनंद ये आदमी कैसी पागलपन की बातें कहता है ये कहता है कि कल तक मुझे आपका प्रेम मिला और कल मैंने थूक दिया तो अब प्रेम नहीं मिलेगा तो शायद ये सोचता है कि ये मेरे ऊपर नहीं थूकता था इसलिए मैं इसे प्रेम करता था जो थूकने से प्रेम बंद हो जाएगा पागल है तू मैं प्रेम इसलिए करता हूं कि मैं प्रेम ही कर सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं तू थूके तू गाली दे तू पैरों पर सिर रखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं प्रेम ही कर सकता हूं मेरे भीतर प्रेम का दिया जल गया अब मेरे पास से जो भी निकले उस पर प्रेम पड़ेगा कोई न निकले तो एकांत में प्रेम का दिया जलता रहेगा अब इसका किसी से कोई संबंध ना रहा अब ये कोई संबंध ना रहा ये मेरा स्वभाव हो गया है प्रेम जब तक किसी से संबंध है तब तक आप शरीर के तल पर प्रेम खोज रहे हैं जो असफल हो जाएगा प्रेम जब जीवन के भीतर स्वयं के भीतर जला हुआ एक दिया बनता है रिलेशनशिप नहीं स्टेट ऑफ माइंड जब किसी से प्रेम एक संबंध नहीं है बल्कि मेरा प्रेम स्वभाव बनता है तब तब जीवन में प्रेम की घटना घटती है तब प्रेम का असली सिक्का हाथ में आता है तब ये सवाल नहीं है कि किससे प्रेम तब ये सवाल नहीं है कि किस कारण प्रेम तब प्रेम अकारण है तब प्रेम इससे उससे नहीं है तब प्रेम है कोई हो तो प्रेम के दिए का प्रकाश उस पर पड़ेगा आदमी हो तो आदमी वृक्ष हो तो वृक्ष सागर हो तो सागर चांद हो तो चांद कोई ना हो तो फिर एकांत एक में प्रेम का दिया जलता रहेगा प्रेम परमात्मा तक ले जाने का द्वार है लेकिन जिस प्रेम को हम जानते हैं वो सिर्फ नरक तक ले जाने का द्वार बनता है जिस प्रेम को हम जानते हैं वो पागल खानों तक ले जाने का द्वार बनता है जिस प्रेम को हम जानते हैं वो कल है द्वंद संघर्ष हिंसा क्रोध घृणा इन सब का द्वार बनता है वो प्रेम झूठा है जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं वो प्रभु तक ले जाने का मार्ग बनता है लेकिन वो प्रेम संबंध नहीं है वो प्रेम स्वयं के चित्त की दशा है उसका किसी से कोई नाता नहीं आपसे नाता है इस प्रेम के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी और इस प्रेम को जगाने की दिशा में कुछ स्मरणीय बातें समझ लेनी जरूरी है पहली बात जब तक आप प्रेम को एक संबंध समझते रहेंगे एक रिलेशनशिप तब तक आप असली प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वो बात ही गलत है वो प्रेम की परिभाषा ही भ्रांत है जब तक मां सोचती है कि बेटे से प्रेम मित्र सोचता है मित्र से प्रेम पत्नी सोचती है पति से प्रेम भाई सोचता है बहन से प्रेम जब तक संबंध की भाषा में कोई प्रेम को सोचता है तब तक उसके जीवन में प्रेम का जन्म नहीं हो सकता है संबंध की भाषा में नहीं किससे प्रेम नहीं मेरा प्रेम पूर्ण होना मेरा प्रेम पूर्ण होना अकारण असंबंधित 24 घंटे मेरा प्रेम पूर्ण होना किसी से बंधकर नहीं किसी से जुड़कर नहीं मेरा अपने आप में प्रेम पूर्ण होना ये प्रेम मेरा स्वभाव मेरी श्वास बने श्वास आए जाए ऐसा मेरा प्रेम 24 घंटे सोते जागते उठते हर हालत में मेरा जीवन प्रेम की एक भाव दशा एक लविंग एटीट्यूड एक सुगंध जैसे फूल से सुगंध गिरती है किसके लिए गिरती राह से जो निकलते हैं उनके लिए फूल को शायद पता भी ना हो कि कोई राह से निकलेगा किसके लिए जो फूल को तोड़ के माला बना लेंगे और भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे उनके लिए किसके लिए फूल की सुगंध किसके लिए गिरती है किसी के लिए नहीं फूल के अपने आनंद से गिरती है फूल के अपने खिलने से गिरती है फूल खिलता है ये उसका आनंद है सुगंध बिखर जाती है दिए से रोशनी बरसती है किसके लिए कोई अंधेरे रास्ते पर न भटक जाए इसलिए किसी के रास्ते के गड्ढे दिखाई पड़ जाएं इसलिए दिखाई पड़ जाते होंगे ये दूसरी बात है लेकिन दिए की रोशनी अपने लिए अपने आनंद से अपने स्वभाव से गिरती और बरसती है प्रेम भी आपका स्वभाव बने उठते बैठते सोते जागते अकेले में भीड़ में वो बरसता रहे फूल की सुगंध की तरह दिए की रोशनी की तरह तो प्रेम प्रार्थना बन जाता है तो प्रेम प्रभु तक ले जाने का मार्ग बन जाता है तो प्रेम जोड़ देता है समस्त से सबसे अनंत से इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रेम तब संबंध नहीं बनेगा वैसा प्रेम 24 घंटे संबंध बनेगा लेकिन संबंधों पर सीमित नहीं होगा उसके प्राण संबंधों के ऊपर से आते होंगे गहरे से आते होंगे तब भी पत्नी पत्नी होगी पति पति होगा पिता पिता होगा मां मां होगी तब भी बेटे पर प्रेम गिरेगा लेकिन बेटे के कारण नहीं मां के अपने प्रेम के कारण तब भी पत्नी का प्रेम चलेगा बहेगा लेकिन पति के कारण नहीं अपने कारण कॉजलिटी भीतर होगी भीतर से आएगा और बहेगा बाहर से कोई खींचेगा और बहेगा नहीं भीतर से आएगा और बहेगा वो अंतर्भाव होगा बाहर से खींचा गया नहीं अभी हम सब बाहर से खींचे गए प्रेम पर जी रहे हैं इसलिए वो प्रेम कलह बन जाता है जो भी चीज जबरदस्ती खींची गई है वो दुख और पीड़ा बन जाती है जो भीतर से स्पंचनीय सहज प्रकट हुई है वो बात और हो जाती है वो बात ही और हो जाती है तब जीवन बहुत प्रेमपूर्ण होगा लेकिन प्रेम एक संबंध नहीं साधक को स्मरण रखना है कि प्रेम उसकी चित्त दशा बने तो ही प्रभु के मार्ग पर सत्य के मार्ग पर यात्रा की जा सकती है तो ही उसके मंदिर तक पहुंचा जा सकता है पहली बात संबंध में प्रेम के भाव को भूल जाएं वो परिभाषा गलत है वो प्रेम को देखने का ढंग गलत है जब कोई गलत ढंग गलत दिखाई पड़ जाए तो फिर ठीक ढंग देखा जा सकता है तो पहली बात है जो फॉल्स लव है वो जो झूठा प्रेम है जो संबंध को प्रेम समझता है उसकी व्यर्थता को समझ ले वो सिवाय असफलता के और चिंता के कहीं भी नहीं ले जाएगा फिर दूसरी बात है और वो दूसरी बात यह है कि क्या आपके भीतर से प्रेम का जन्म हो सकता है भीतर से बाहर कोई भी ना हो तो भी हो सकता है जब भी प्रेम का जन्म हुआ है तो वैसे ही हुआ है हमारे भीतर वो छिपा है बीज जो फूट सकता है लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया हम संबंध वाले प्रेम पर ही जीवन भर संघर्ष करते रहे हमने कभी ध्यान नहीं दिया उसके उसके पार भी कोई प्रेम की संभावना है कोई रूप है हम हमेशा रेत से तेल निकालने की कोशिश करते रहे रेत से तो तेल नहीं निकला निकल नहीं सकता था लेकिन रेत से तेल निकालने में हम भूल ही गए कि ऐसे बीज भी थे जिनसे तेल निकल सकता था हम सब संबंध वाले प्रेम से जीवन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं वहां से नहीं निकला है नहीं निकलेगा लेकिन समय खोता है शक्ति खोती है और जहां से निकल सकता था उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है प्रेम चित्त की एक दशा की तरह पैदा होता है बस वैसा ही पैदा होता है जब भी पैदा होता है वैसा ही पैदा होता है उसे कैसे पैदा करें वो कैसे जन्म ले ले वो बीज कैसे टूट जाए और अंकुरित हो जाए तीन बातें तीन सूत्र संबंध में स्मरण रख लेने चाहिए पहली बात जब अकेले में हो तब तब भीतर खोज करें क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूं जब कोई ना हो सब खोज करें क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूं क्या अकेले में लविंग क्या अकेले में एकांत एक में भी मेरी आंखें ऐसी हो सकती हैं जिससे प्रेम पात्र मौजूद हो क्या अकेले में शून्य में एकांत में खाली में भी मेरे प्राणों से प्रेम की धाराएं उस रिक्त स्थान को भर सकती हैं जहां कोई नहीं कोई पात्र नहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं क्या वहां भी प्रेम मुझसे बह सकता है इसको ही मैं प्रार्थना कहता हूं उनको नहीं प्रार्थना कहता कि हाथ जोड़े मंदिरों में बैठे हैं एकांत में जो प्रेम को बहाने में सफल हो रहा है कोशिश कर रहा है वो प्रार्थना में वो प्रेयरफुल मूड में है तो अकेले में बैठ के देखें कि क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूं लोगों के साथ प्रेमपूर्ण होके बहुत देख लिया होगा आपने अब अकेले में थोड़ी खोज करें क्या मैं प्रेमपूर्ण हो सकता हूं पहला सूत्र एकांत एक में प्रेम पूर्ण होने का प्रयोग करें खोजें टटोले अपने भीतर हो जाएगा होता है हो सकता है जरा भी कठिनाई नहीं है कभी प्रयोग ही नहीं किया उस दिशा में इसलिए ख्याल में बात नहीं आ पाई है निर्जन में भी फूल खिलते हैं और सुगंध फैला देते हैं निर्जन में एकांत एक में प्रेम की सुगंध को पकड़ें जब एक बार एकांत में प्रेम की सुगंध पकड़ जाएगी तो आपको ख्याल आ जाएगा कि प्रेम कोई रिलेशनशिप नहीं कोई संबंध नहीं प्रेम स्टेट ऑफ माइंड है स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस है चेतना की एक अवस्था है दूसरी बात दूसरा सूत्र मनुष्य इतर जगत में प्रेम का प्रयोग करें एक पत्थर को भी हाथ में उठाएं तो ऐसे जैसे किसी को प्रेम कर रहे हो एक पहाड़ को भी देखें तो ऐसा जैसा अपने प्रेमी को देख रहे हो मनुष्य इतर जगत में दूसरा पहला एकांत एक में दूसरा मनुष्य इतर जगत में पत्थर को रेत को सागर को देखें तो ऐसा जैसा प्रेमी को प्रेम बहा चला जाए आंख खो जाए कुर्सी को भी छुए भोजन की थाली को भी उठाएं तो ऐसे जैसे प्रेमी को स्पर्श कर रहे हो मनुष्य इतर जगत में क्यों क्योंकि मनुष्य को जब भी आप प्रेम करते हैं तो वहां से उत्तर आता है उत्तर आया कि रिलेशनशिप खड़ी हो जाती संबंध खड़ा हो जाता है पत्थर को छुएंगे तो कोई उत्तर नहीं आएगा सागर को देखेंगे प्रेम से तो सागर कोई उत्तर नहीं देगा आपके गले में बाहें नहीं डाल देगा और कहेगा मैं भी आपको प्रेम करता हूं कोई उत्तर नहीं आएगा प्रेम निरुत्तर छूट जाएगा उस तरफ से कोई जवाब नहीं आने वाला है आप प्रेम करेंगे और प्रेम छूट जाएगा जवाब की आकांक्षा के कारण प्रेम मुक्त नहीं हो पाता संबंध बना रहता है एक व्यक्ति को मैं प्रेम करता हूं फिर मैं अपेक्षा करता हूं उत्तर आना चाहिए जब उत्तर नहीं आता तो फ्रस्ट्रेशन आता है दुख आता है पीड़ा आती चिंता आती निरुत्तर प्रेम की संभावना बढ़नी चाहिए लेकिन निरुत्तर प्रेम की पहली संभावना मनुष्य के छोड़ के ही हो सकती है मनुष्य के साथ एकदम प्रयोग करने आसान नहीं है वृक्षों के साथ हो सकती है पौधों के साथ हो सकती है पत्थरों के साथ हो सकती है सागरों के साथ हो सकती है इसलिए प्रकृति में जो कुछ भी है उस पर प्रेम को भेजें वहां अपेक्षा नहीं वहां एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता कि आप राह देखें कि उत्तर आएगा उत्तर न आएगा आपका प्रेम ही जाएगा और आपको पहली दफा पता चलेगा उत्तर के लिए नहीं है प्रेम प्रेम दान है मांग नहीं प्रेम देना है लौटना नहीं प्रेम का आनंद दे देने में है प्रेम का आनंद पा लेने में नहीं ये दूसरा सूत्र जब स्पष्ट हो जाएगा कि प्रेम दान है मांग नहीं कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं है कोई रिस्पांस की जरूरत नहीं है हमने दे दिया और सागर ने स्वीकार कर लिया तो धन्यवाद है सागर का और पत्थर ने स्वीकार कर लिया तो धन्यवाद है पत्थर का लौटते उत्तर का कोई सवाल नहीं तो यह दूसरा सूत्र स्पष्ट करेगा आपके भीतर उस संभावना को कि प्रेम एक चित्त की दशा है उत्तर नहीं है तो कोई संबंध नहीं बनता है फिर तीसरी बात पहला एकांत एक दूसरा मनुष्यतर जगत तीसरा असंबंधित मनुष्यता जिनसे आप संबंधित हैं उन पर नहीं जिनसे आप बिल्कुल असंबंधित हैं जिनसे कुछ लेना देना नहीं राह चलते लोग ट्रेन में बैठे हुए लोग बस में बैठे हुए लोग जिनसे कोई संबंध नहीं है जिनसे कोई नाता नहीं है उनके प्रति प्रेम पड़ोस में कोई आपके बैठ गया है बस में आके उसके प्रति प्रेम अपरिचित के अनजान के स्ट्रेंजर के प्रति तीसरे सूत्र में अजनबी के प्रति प्रेम क्योंकि अजनबी के प्रति प्रेम एक बात ही और है परिचित के प्रति प्रेम बात और है परिचित के प्रति प्रेम अपेक्षाओं से भरा है संबंधों से भरा है उसने कल कुछ किया था उसके कारण प्रेम है वो कल कुछ करेगा इस कारण प्रेम है उसका उस प्रेम के पीछे लाभ हानियां जुड़ी हैं उस प्रेम के पीछे याददाश्तें जुड़ी हैं अतीत जुड़ा है भविष्य जुड़ा है अजनबी से कोई संबंध नहीं है कल का आने वाले कल का भी कोई संबंध नहीं है उससे प्रेम निपट प्रेम है उसके आगे पीछे कोई लाभ हानि नहीं है कोई उपाय नहीं है कोई मार्ग नहीं है उसे हम जानते भी नहीं वो कहां विराट जगत में कल खो जाएगा कुछ पता नहीं है अजनबी के प्रति प्रेम असंबंधित मनुष्यता के प्रति प्रेम तीसरा सूत्र है अगर आपको अपने भीतर उस प्रेम को पैदा कर लेना है जिसे मैं स्टेट ऑफ माइंड कह रहा हूं जिसे मैं चित्त की दशा कह रहा हूं तो ये तीन सूत्र और जब आप पत्थरों को प्रेम कर पाएंगे सागर को प्रेम कर पाएंगे एकांत को प्रेम कर पाएंगे अजनबी को प्रेम कर पाएंगे तो जो निकट है जो संबंधित है उसे प्रेम नहीं कर पाएंगे उसे तो प्रेम कर ही पाएंगे वो तो सहज बह जाएगा ये तीन की तैयारी हो तो उसे तो प्रेम कर ही पाएंगे उसे तो बहुल प्रेम उपलब्ध हो जाएगा लेकिन उसके प्रेम में भी क्रांतिकारी फर्क हो जाएगा क्योंकि जिसने एकांत को प्रेम किया जिसने पत्थरों को प्रेम किया जिसने अजनबियों को प्रेम किया उसके प्रेम की क्वालिटी उसके प्रेम का गुण बदल जाएगा वो संबंधित को मां बेटे को प्रेम करेगी तो भी ऐसे जैसे एकांत को करती हो ऐसे जैसे पत्थर को करती हो उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं ऐसे जैसे अजनबी को करती हो जो कल भटक जाएगा तो कोई पीड़ा नहीं छोड़ जाएगा तब पत्नी पति को प्रेम करेगी पति पत्नी को प्रेम करेगा लेकिन उस प्रेम की क्वालिटी उस प्रेम का गुणधर्म बदल जाएगा उस प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं कोई मान नहीं कोई ईर्षा नहीं कोई द्वेष नहीं कोई कलह नहीं कोई छीना झपट नहीं वो प्रेम तब एक सहज दान हो जाता है और ये सहज दान जितना बढ़ता चला जाए जितना बढ़ता चला जाए उतना ही व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है विलीन हो जाता है प्रेम अहंकार की मृत्यु है प्रेम अहंकार की मृत्यु है और जहां अहंकार नहीं वहां हम हो गए एक समस्त से है वहां हम जुड़ गए विराट से वहां परमात्मा से मिलन हो गया उस मिलन की प्यास है उस मिलन की दौड़ है उस मिलन की आकांक्षा है बूंद सागर से टूट गई सागर होना चाहती है रेत हवाओं में उड़ गया एक कण अपने तट पर वापस लौट आना चाहता है ऐसा ही एक एक मनुष्य का व्यक्तित्व वापस लौट आना चाहता है प्रभु के सागर में हमने अब तक जो उपाय किए हैं वे सब उपाय गलत साबित हुए हैं या तो हमने झूठे प्रेम का उपाय किया है या हमने अहंकार का उपाय किया है वे दोनों उपाय व्यर्थ हैं सम्यक प्रेम राइट लव क्या होगा उस दिशा में मैंने तीन सूत्र कहे हैं इनका प्रयोग करें ताकि आपके भीतर वो प्रेम जन्म पा सके जो आपका है जो आपका स्वभाव है जो आपकी श्वास श्वास है तब आप जो भी छुएंगे तब आप जो भी देखेंगे तब आप जो भी सुनेंगे वो सभी प्रेम पात्र वो सभी प्रीतम बन जाएगा वो सभी बिलवेड बन जाएगा और जिस दिन सारा जीवन प्रीतम बन जाता है उस दिन मनुष्य प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट होता है उसके पहले नहीं उसके पहले नहीं उसके पहले कभी नहीं जिस दिन सारा जीवन प्रीतम बन जाता है दिन सारी खबरें उसकी ही खबरें हो जाती हैं उस दिन लेकिन ये कोई आसमान से नहीं घट जाएगी घटना ये प्रत्येक को अपने भीतर पात्रता प्रत्येक को अपने भीतर द्वार प्रत्येक को अपने भीतर एक ओपनिंग प्रत्येक को अपने भीतर के फूल को खिला लेना है तो ये घटना घट सकती है ये तीसरा सूत्र है चित्त को विस्मय से भरे जीवन के रस में तल्लीन हो और आत्मा को प्रेमपूर्ण करें फिर इन तीन सीढ़ियों को पार करें और देखें कि क्या हो जाता है अनंत संपदा है मनुष्य को पाने के लिए अनंत आनंद उसे उपलब्ध हो सकता है लेकिन हम व्यर्थ ही जीते और नष्ट हो जाते हैं एक छोटी सी घटना अपनी बात में पूरी करूं फिर हम सुबह के ध्यान के लिए बैठे एक राजधानी में एक भिखारी एक सड़क के किनारे बैठकर 20-25 वर्षों तक भीख मांगता रहा फिर मौत आ गई फिर मर गया जीवन भर यही कामना की कि मैं भी सम्राट हो जाऊं कौन भिखारी ऐसा है जो सम्राट होने की कामना नहीं करता जीवन भर हाथ फैलाए खड़ा रहा रास्तों पर लेकिन हाथ फैलाकर एक एक पैसा मांगकर कभी कोई सम्राट हुआ है मांगने वाला कभी सम्राट हुआ है मांगने की आदत जितनी बढ़ती है उतना ही बड़ा भिखारी हो जाता है सम्राट कैसे हो जाएगा तो 25 वर्ष पहले छोटा भिखारी था 25 वर्ष बाद पूरे नगर में प्रसिद्ध भिखारी हो गया था लेकिन सम्राट नहीं हुआ था फिर मौत आ गई मौत कोई फिक्र नहीं करती सम्राटों को भी आ जाती है भिखारियों को भी आ जाती है और सच्चाई शायद यही है कि सम्राट थोड़े बड़े भिखारी होते हैं भिखारी जरा छोटे सम्राट होते हैं और क्या फर्क होता होगा वो मर गया भिखारी तो गांव के लोगों ने उसकी लाश को उठवा के फिकवा दिया फिर उन्हें लगा कि 25 वर्ष एक ही जगह बैठ के वो भीख मांगता रहा सब जगह गंदी हो गई गंदे चीथड़े फैला दिए हैं तीन टप्पर बर्तन भाड़े फैला दिए सब फिकवा दिया फिर किसी को ख्याल आया कि 25 वर्ष तक जमीन भी गंदी कर दी थोड़ी जमीन भी उखाड़ के थोड़ी मिट्टी भी साफ कर दो ऐसा ही सब व्यवहार करते हैं मर गए आदमी के साथ भिखारियों के साथ ही करते हो ऐसा नहीं जिनको प्रेमी कहते हो उनके साथ भी यही व्यवहार हो उखाड़ दी थोड़ी मिट्टी भी खोद डाली मिट्टी खोदी तो नगर दंग रह गया भीड़ लग गई सारा नगर वहां इकट्ठा हो गया वो भिखारी जिस जगह बैठा था वहां बड़े खजाने गड़े हुए थे सब कहने लगे कैसा पागल था मर गया पागल भीख मांगते मांगते जिस जमीन पर बैठा था वहां बड़े हंडे गड़े हुए थे जिनमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात थे स्वर्ण सरफिया थी वो सम्राट हो सकता था लेकिन उसने वो जमीन न खोदी जिस पर वो बैठा हुआ था वो उन लोगों की तरफ हाथ पसारे रहा जो खुद ही भिखारी थे जो खुद ही दूसरों से मांग मांग के ला रहे थे वे भी अपनी जमीन नहीं खोदे होंगे उसने भी अपनी जमीन नहीं खोदी फिर गांव के लोग कहने लगे बड़ा अभागा था मैं भी उस गांव में गया था मैं भी उस भीड़ में खड़ा था मैंने लोगों से कहा उसके अभाग्य की फिक्र छोड़ो दौड़ो अपने घर अपनी जमीन तुम खोदो कहीं वहां कोई खजाना ना पता नहीं उन गांव के लोगों ने सुना कि नहीं आपसे भी यही कहता हूं अपनी जमीन खोदो जहां खड़े हैं वहीं खोद लें कहता हूं वहां खजाना हमेशा है लेकिन हम सब भिखारी हैं और कहीं मांग रहे हैं प्रेम के बड़े खजाने भीतर हैं लेकिन हम दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो पत्नी पति से मांग रही मित्र मित्र से मांग रहा है हमें प्रेम दो जिनके पास खुद ही नहीं है वे खुद दूसरों से मांग रहे हैं कि हमें प्रेम दो हम उनसे मांग रहे हैं भिकारी भिकारियों से मांग रहे हैं इसलिए दुनिया बड़ी बुरी हो गई लेकिन अपनी जमीन पर जहां हम खड़े हैं कोई खोदने की फिक्र नहीं करता वो कैसे खोदा जा सकता है वो थोड़ी सी बात मैंने कही वहां खोदें वहां बहुत खजाना है और प्रेम का खजाना खोदते खोदते ही एक दिन आदमी परमात्मा के खजाने तक पहुंच जाता है और कोई रास्ता न कभी था न है और न हो सकता है ये तीसरी सूत्र की बात पूरी हुई अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठेंगे